मरियम ने कहा मेरे लड़का कैसे हो जाएगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं है और न मैं कोई बदकार औरत हूं